आपके पास में जो भी आइडियाज हैं बोलते चले जाओ जैसे कोई आइडिया में मुझे कुछ बड़ा नजर आएगा तो उसको बिल्ड करना शुरू कर देंगे ठीक है हाँ बोलो in India the thing is that हम सब लोग के पास गाड़ी नहीं है हम लोग पर एक्टिवा और टू व्हीलर्स मैक्सिमम सभी लोग के पास है अब आप एक पल को सोचो कि आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ मानसून बहुत खतरनाक आता है अब वहाँ बारिश बहुत भयंकर होती है गाड़ी आती <laughs> यार आप तो स्पेशल इफेक्ट्स लगा रहे हो एक पल के लिए इमेजिन करके मुझे लगा मैं स्त्री देख रहा हूँ हाँ। सर हाँ ऐसे एरिया में अभी हाँ। आपको कहीं से कहीं जाना है हाँ। अब आप बोलोगे कि मेरे को जो लग रहा है यार तेरा आइडिया खराब है क्योंकि हाँ। अब लोग रेनकोट लेके जा सकते हैं हाँ, हाँ। अब आप सोच के देखो अगर उसी रेनकोट की कॉस्ट में मैं एक एक्टिवा पे एक ऐसी शील्ड बना के लगा दूं क्योंकि लगेगा उतना ही मटेरियल जितना रेनकोट पे लग रहा है हाँ हाँ। पर मैं एक ऐसी शील्ड बना रहा हूँ जिससे कि क्योंकि रेनकोट 100 परसेंट सक्सेसफुल भी नहीं है हाँ हाँ। तो उस शील्ड से वो बंदा भी बच जाता है और जो पिलियन है हाँ। वो भी बच जाता है हाँ। तो क्या वो टू व्हीलर की कॉस्ट में गाड़ी के फायदे नहीं ले पा रहा आइडिया अच्छा है no doubt about it investment ज्यादा लगने वाली है क्योंकि इसमें आर में बहुत बड़ा पैसा लगने वाला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्योंकि आप किसी की जान से खेलने वाले हो यहाँ पर क्योंकि जब वो तेज चलेगा ऐसा ना हो वो उड़ जाए साथ में बंदा भी उड़ जाए इसलिए this is a high investment game क्योंकि यहाँ पे आर में बहुत मोटा पैसा लगने वाला है पहले आपको जो बनाना है उसको टेस्ट करना है और बनाने के बाद में पहले खुद को टेस्ट करना है फिर अगर सब कुछ ठीक रहा तब फिर इनको दे दो माइक सर जैसे कि हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए तो उसमें सर आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है कि ट्वेल्थ के बाद कहाँ पे एडमिशन लेनी है या टेंथ के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी है बच्चों को यही अगर हम उसके लिए एक काउंसलिंग पैटर्न बनाएं और एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाए जहाँ पे कि बच्चों को समझ भी आए कि उनको क्या लेना है और किस हिसाब से लेना है उसमें अगर हमारे को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट मिलने लग जाए तो हमारा हम मतलब वहाँ पे बच्चों को एक डेवलप कर सकते हैं और हमारी सोसाइटी भी आगे जनरेट होगी जिससे हमारी इनकम भी जनरेट हो सकती है अब इसमें जो बेसिक चैलेंज है वो मैं आपको बताता तो हूँ क्या आने वाला है इंडिया में कंसल्टेंसी की इतनी वैल्यू नहीं है लोग ना कंसल्टेंसी की कोई वैल्यू नहीं समझते मतलब अगर आप पेरेंट्स को कहोगे ना कि हाँ करियर काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं और बंदा पांच हजार लेने वाला है दस हजार लेने वाला है नहीं, तो सर, हाँ, कोई देगा नहीं करवाएंगे हाँ अब दूसरा चैलेंज आता है अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवाओगे तो पैसा आपको कहाँ से आएगा जहाँ आप एडमिशन कराओगे बच्चे का वहां से आपको पैसा मिलेगा हाँ अब ये ऑलरेडी लोग इंडिया में कर रहे हैं अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है जो ढंग का इंस्टीट्यूट है जो एक्चुअल में ढंग का होगा वो तो आपको पैसा देगा नहीं जो बिल्कुल ही थका हुआ है वो ज्यादा पैसा देगा और जो बिल्कुल ही ऐसा है गया गुजरा जहां कुत्ता भी नहीं आता है वो आपको इतना पैसा देगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है तो काम तो कर लोगे शॉर्ट टर्म में लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे सक्सेसफुल होना नहीं होना there is a question mark क्योंकि सर मैं अभी इलेवंथ में सर मैंने साइंस ली थी फिर वो साइंस के बाद कॉमर्स में आया तो मेरे को हाँ। लगा कि मतलब एजुकेशन में ना आजकल हम डिसीजन नहीं ले पाते तो प्रॉब्लम छोटी नहीं है है बहुत बड़ी बट इसको कैसे बिजनेस में कन्वर्ट करना है दैट्स अ बिग क्वेश्चन मे भी आप क्या कर सकते हो इसमें आप अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखते हो इसके बारे में सुना है आप लोगों ने yes, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो मान लो और फिर अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बनाते हो जहां पे पूरा डिटेल में सारा कुछ एक्सप्लेन करते हो और किसी तरह से वो सर्च इंजन में ऊपर आने लग जाती है तो इस वेबसाइट पे ऐड करने का लोग आपको पैसा देंगे वैसे सर वेबसाइट तो बनाई है घर घर शिक्षा के नाम से हाँ? और उस पर मैंने सर मतलब ट्रस्ट भी रजिस्ट्रेशन करवाई है ताकि मेरे को मतलब कंपनी के मतलब एक वेलफेयर के लिए भी काम करवाऊँ थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे बढ़ना अब इसको ध्यान से समझना आपने एक वेबसाइट तो बना ली कितनी वेबसाइट्स हैं इस टाइम वर्ल्ड में बहुत मतलब क्या करोड़ों नहीं है अरबों खरबों हैं अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं जब भी आप जाकर के कुछ सर्च करते हो गूगल पे कौन से पेज तक जाते हो हजार दो हजार बीस हजार पहला पेज समझ गए चैलेंज क्या है चैलेंज वेबसाइट बनाना नहीं है चैलेंज है पहले पेज पे आना ऑर्गेनिकली क्योंकि वेबसाइट तो आप बना लोगे उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे स्टूडेंट्स तक पहुंचोगे कैसे अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप सीख जाओ अच्छे से और आपको यह समझ आ जाए कि कैसे एक वेबसाइट को या किसी भी वेबसाइट को पहले पेज पे लेकर के आया जाता है इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है इसी को आगे बढ़ाते हैं प्लीज है a seat let's give big for him देखो अब इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो ये जो एरा है इसको बोलते हैं डिजिटल एरा सब कुछ डिजिटल है सब कुछ मोबाइल पे हो रहा है सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है फिजिकल धीरे धीरे सब ऑनलाइन शिफ्ट होता चला जा रहा है हो ही गया है काफी हद तक तो यहां पे जिसके हाथ में ये स्किल है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में ऑर्गेनिकली प्लस इनऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली मतलब होता है मार्केटिंग के थ्रू एडवर्टाइजिंग के थ्रू ऑर्गेनिकली होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू जिसके पास में दोनों स्किल है क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है इसको आप डिजिटल मार्केटिंग भी बोल सकते हो ब्रॉडली जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है जिसके अंदर ये स्किल है उस बंदे की क्या वैल्यू है अब इस बिजनेस को देखो ये आइडिया शुरू कहाँ से हुआ था अब हम इसको कहाँ लेकर के जाने वाले हैं आपका टारगेट क्या है स्टूडेंट्स जो ट्वेल्थ से निकले हैं वो आकर के सर्च करेंगे career option after twelfth career option after ten plus two in words को जब भी कोई सर्च करे तो वहाँ पे बीस रिजल्ट आते हैं क्या मैं अपनी ऐसी एक स्किल डेवलप कर सकता हूँ कि उन बीस में से टॉप पे मेरा आ जाए टॉप पे ना सही टॉप फाइव में मेरा नाम आ जाए क्या ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है अगर तीन चार महीने तक आप दिन रात लगे रहो अपनी वेबसाइट को और वेबसाइट फ्री में बनती है वेबसाइट की कोई खास कॉस्ट नहीं है मतलब मान लो कितनी होगी डोमेन वोमेन ये वो सब मिला करके पाँच सौ रुपये महीना हज़ार रुपये महीना मैक्सिम तो इन्वेस्टमेंट क्या हुई आपकी देखा जाए तो कुछ भी नहीं जी स्किल को एक्वायर कैसे कर रहे हो सीख रहे हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कितने आर्टिकल्स हैं तो वो बंदे जो स्किल में एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपना सब कुछ शेयर किया हुआ है ऑनलाइन इसके ऊपर अनलिमिटेड बुक्स हैं जो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो अमेजोन से यहाँ से वहाँ से जो बंदे इस पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट हैं और अब इसमें अच्छी चीज़ क्या है इसमें इंडिया और यूएस कुछ नहीं है क्योंकि सर्च इंजन सर्च इंजन है जिसने यूएस में स्किल को क्रैक कर लिया है उससे भी अगर आप सीखते हो तो वो यहाँ पर भी काम करने वाला है क्योंकि बेसिक एल्गोरिथम सेम है अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख गए और इसके साथ साथ में आप डिजिटल मार्केटिंग भी सीख गए तो क्या इस डिजिटल एज में आप कुछ कमाल का कर सकते हो नहीं कर सकते या ये कह लो कुछ भी करना है आज के टाइम में तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए कोई भी बिजनेस करना है कैसा भी बिजनेस करना है एक है किसी भी काम को करना ये कह लो एक प्रोडक्ट को बनाना एक सर्विस को देना एक है उसकी मार्केटिंग करना तो आप किस स्किल को मास्टर कर रहे हो मार्केटिंग को किस मीडियम के थ्रू डिजिटल मीडियम के थ्रू क्यों डिजिटल मीडियम के थ्रू क्यों अरे नंबर वन सब कुछ डिजिटल है और होता ही चला जा रहा है नंबर टू सस्ता है digital marketing is much cheaper than traditional marketing TV की एड न्यूज़पेपर की एड लाखों करोड़ों रुपए की है डिजिटल मार्केटिंग में पांच दस रुपए में एड हो जाती है एक्सट्रीमली ईजी मतलब अगर आज मुझे अपना करियर शुरू करना होगा जीरो से मैं मान लेता हूं मेरी एज है अठारह उन्नीस साल मैं क्या करूंगा डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा डिजिटल मार्केटिंग से ज़्यादा किसकी वैल्यू है आज के टाइम में लगा लो दिमाग इससे ऊपर किसी की वैल्यू है इससे ऊपर किसी की वैल्यू नहीं है इसकी वैल्यू उससे भी ज्यादा है जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोडक्ट बनाने की जिसके अंदर स्किल है उससे भी ज्यादा वैल्यू है डिजिटल मार्केटिंग वाले की क्योंकि मान लो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोडक्ट बना सकते हो बेचोगे कैसे कुछ भी चाहिए आज की डेट में आपको तो पहले आदमी जाकर के गूगल पे सर्च करता है बाद में डिसीजन लेता है कि क्या करना है तो जो गूगल पे सर्च हो रहा है वहां पर दो तरह से सर्चेस चलती है एक है ऑर्गेनिक तरीका यानी उसको मैंने बात करी थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की दूसरा है सर्च इंजन मार्केटिंग एड जाती है वहां पे जब एड जाती है तो वहां से हम कॉल करते हैं नहीं करते हैं उन वेबसाइट्स पे जाते हैं नहीं जाते हैं देखते हैं नहीं देखते हैं ऐसे हम सर्च करते हैं नहीं करते रेस्टोरेंट्स नियर मी है ना या फिर जो भी आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल घर में वॉलपेपर लगवाना है एक दीवार पे तो आप कैसे करोगे जाके मार्केट में धक्के खाओगे क्या करोगे गूगल पे जाकर के सर्च करोगे वॉलपेपर रिटेलर्स नियर मी सोचो जैसे किसी बंदे ने वो सर्च किया अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो जरूरी नहीं है जो वॉलपेपर का काम कर रहा है उसको भी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल आती है ये दो अलग अलग स्किल है ना yes, उसको वॉलपेपर चिपकाना तो आता है उसको सैंपल दिखाना आता है उसको बेचना आता है उसको मार्केटिंग नहीं आती मार्केटिंग किसको आती है आपको आती है आपने सीख ली है दो तीन महीने चार महीने लगा करके इस स्किल को डेवलप कर लिया ये एक साल लगा करके पक्के हो गए डिजिटल मार्केटिंग में आपको पता है इसकी मार्केटिंग करते कैसे जैसे किसी ने सर्च किया वॉलपेपर रिटेलर्स इन जो भी आपका एरिया है मान लो नोएडा में रहते हो आ गया इन नोएडा और आपकी एड वहां पे टॉप पे आ जाती है leading wallpaper retailer in Noida callers for a free home demo आपने क्या किया इन वॉलपेपर वालों से और इन फ्लोरिंग वालों से टाइप कर लिया तो जैसे कोई सर्च कर रहा है wooden flooring retailer in Noida मान लो एड आ रही है एड किसकी है वो आपकी है उसमें किसकी कंपनी का नाम है आपकी आपके पास में कॉल आई आपको डेमो के लिए बुलाया जिस वक्त आप डेमो के लिए गए डेमो मतलब क्या वॉलपेपर लगवाने हैं ये सैंपल्स हैं बुक्स होती है वॉलपेपर्स की पता है ना देखा होगा आप लोगों ने या फ्लोरिंग है तो उसके कुछ सैंपल्स होते हैं तो वो आप अपने साथ में ले गए उस बंदे को उसका क्या जा रहा है क्या wallpaper high margin game है लो मार्जिन गेम है बहुत हाई मार्जिन गेम है तो उस बंदे से अगर आपने एक रीजनेबल भी टाइप कर लिया है कि भैया पांच हज़ार का लगा तो तीस परसेंट मेरा सत्तर परसेंट तेरा उसका क्या जा रहा है उसका तो बैठे बैठे काम हो रहा है और वो अकेला नहीं है उसके जैसे बीस लोग हैं जो दुकानें खोल के बैठे हैं किसी भी मार्केट में चले जाओ वहाँ पे ऐसे कितने लोग नजर आएंगे ये दुकान खोल के बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कस्टमर हमारे पास में आए तो अगर उनको आप काम देने लग जाओ रेगुलर तो उसमें भी चूज करो उन बीस में से कौन सा बंदा आपको ढंका लग रहा है जिससे बात करके आपको भी अच्छा लग रहा है उसको सीधा बोलो ना कि मैं ये काम करता हूँ मेरे पास में बहुत लोग आते हैं विजिटिंग गाड़ी तो चाहिए जा करके आपने मार्केट में बात करी इन लोगों से और कितनी देर लगेगी आपके पास लोग आने में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो नोएडा में कितने लोग डेली सर्च करने वाले हैं वॉलपेपर के लिए फ्लोरिंग के लिए ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए कितने लोग सर्च करते होंगे कुछ आइडिया है हजारों लोग सर्च कर रहे हैं उन हजारों लोगों को आपकी एड दिख रही है जहां पर आप जा रहे हो डेमो देने के लिए एड कितने में होती है महीने का दो तीन हजार पांच हजार अगर आपने अपना पांच हजार का भी एडवर्टाइजिंग का बजट बना लिया तो कितने क्लाइंट्स आप एक्वायर कर सकते हो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो अब यहाँ पे एक चैलेंज पता है क्या है बहुत बड़ा इंडिया में जो मैंने ऑब्जर्व किया है लोग एडवर्टाइजिंग को एज एन एक्सपेंस देखते हैं ये बेवकूफ लोगों की निशानी है advertising is not an expense it is an investment मतलब उनको दुकान बनानी है आप जा करके ऑब्जर्व कर लेना ऐसे लोगों को कि किसी मार्केट में दुकान खोली है लाखों रुपए इंटीरियर में लगा दिया बढ़िया से बढ़िया ये है वो है सब कुछ है और पूछो आपका एडवर्टाइजिंग बजट क्या है मार्केटिंग बजट क्या है कुछ भी नहीं वो क्या होता है उनको बोलो मैं आपकी मार्केटिंग करूंगा दस हज़ार रुपये महीने का लूंगा वो कहेंगे भाई मैं नहीं दूंगा समझ गए इस बंदे ने लाखों रुपए लगा रखे अपनी दुकान को बनाने में उसकी टेबल चेयर है पचास हज़ार रुपए की और उसको बोलो दस हज़ार रुपये महीने का दे दे नहीं देगा तो ये प्रॉब्लम नहीं है अपॉर्चुनिटी है ये पांच हज़ार रुपये आप अपनी जेब से लगाओ ना उससे मत लो वो देगा ही नहीं सोच ही नहीं है यहाँ पे लोगों की बट उसको बोलो कि भैया तेरा मैं माल बेचूंगा मेरे को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना दे एक रिटेलर को उसकी ईगो सोचो कितनी बूस्ट हो जाएगी कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया <laughs> नहीं खुश नहीं हो जाएगा आप एक रिटेलर हो आपके पास कोई आए बोले कि मैं आपके लिए काम लेकर के आऊंगा मुझे इतना पैसा चाहिए आप मना करोगे क्या वो ले आ बेटा तू काम जितना लाना है काम लाएगा तो पैसा मिलेगा उसके लिए वो तैयार है आप कहोगे भाई मुझे इतना पैसा महीने का दे दो और मैं आपके लिए काम लेकर के आऊंगा वो कहेगा एक रुपये भी नहीं मिलेगा समझ गए मैं क्या कह रहा हूं दोनों में फर्क समझ आ रहा है तो इसी साइकी को समझ करके इसी साइकी से आप खेल जाओ उसके लिए अगर आप काम करते भी हो दस हजार रुपये लगा करके उसको एक लाख का बिजनेस देते भी हो तब भी वो रो रो करके आपको दस बीस हजार रुपए देगा ये यहाँ पे बेसिक मेंटेलिटी है इंडिया में बट अगर आपने खुद अपना पैसा इन्वेस्ट किया यानी पांच हजार रुपए की एड करी और वहां से पचास हजार रुपए का बिजनेस जनरेट किया तो उसमें तीस परसेंट भी अगर आपको मिला तो पंद्रह हजार रुपये आपका है जब भी किसी को उस एरिया में वॉलपेपर चाहिएगा या फ्लोरिंग चाहिएगी या ऐसा कुछ भी चाहिएगा तो वो गूगल पे सर्च करेगा आपके पास में वो लीड आएगी अब आपका आगे टाइप है जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है और जो आपको मार्जिन भी अच्छा दे रहे हैं आप वहां पर जा रहे हो और धीरे धीरे अपनी टीम बढ़ाते चले जा रहे हो बढ़ानी ही पड़ेगी अगर ये काम एक्चुअल में आपको आता है तो क्योंकि इतनी कॉल्स आ जाएंगी हर जगह आप अकेले नहीं जा सकते दिन में बीस लोगों ने तीस लोगों ने आपको डेमो के लिए बुला लिया हर जगह अकेले जाओगे क्या लोग चाहिए अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा एडवांटेज आ गया इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है लोगों की कोई कमी नहीं है कितनी भी टीम बढ़ा ले पहले अपने माइंड में रख लो एक अमाउंट फिक्स कर लो पाँच दस हज़ार रुपये वट एवर इससे कम का काम मैं नहीं करूँगा मैंने क्या कहा था अपने पहले सेशन में याद है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ना बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नहीं कि ये काम करना है जी यहाँ पे सौ रुपए का वहां पे भी आप पहुंच जाओ नहीं नहीं बीस रुपए तो और आने देना तो फंस जाओगे फिर कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे लाइफ में पहले ही बड़ा सोचो ना माइंड में छोटा मोटा क्यों सोच रहे हो धीरे धीरे अपनी फिगर को बढ़ाते चले जाओ फिर जैसे जैसे आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपने अपने माइंड में फिक्स किया हुआ है कि अच्छा लाख रुपए से नीचे का काम मैं नहीं करूँगा लाख रुपए में ये जो काम होते हैं मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ तीस परसेंट का मार्जिन होता है तो अगर महीने के आप तीन घर में भी काम कर रहे हो शुरू में वो एकदम से आपको एक लाख का काम नहीं देंगे पहले छोटा मोटा काम कराएंगे पांच दस हज़ार रुपए का जब ट्रस्ट हो जाएगा तो बड़ा काम भी आएगा तो सीधा आपको फ़ोन करेंगे अगर आपने उनको सेटिस्फाई किया है तो लाख लाख रुपए का काम भी करते हो और आगे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है वो आगे रिकमेंड भी करते हैं अगर खुद सेटिस्फाई होते हैं तो खुद के घर में कुछ भी होगा सीधा आपको फ़ोन करेंगे और आप भी ऐसे करते हो या नहीं करते हो घर में क्या आपके कुछ लोग फिक्स नहीं हो गए yes, कोई भी काम कराना होता है सीधा उनको फ़ोन जाता है अब आपको ये पता है वो कितना कमा रहे हैं कितना नहीं ये नहीं पता है यही तो गेम है और डिजिटल मार्केटिंग में मैंने सिर्फ एक चीज की बात करी है इसमें बहुत, कुछ कर सकते हो मैंने एक पहले सेशन में एग्जांपल दिया था पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट का उसमें भी तो आप अगर खुद नहीं करना चाहते आप कहते हो नहीं भाई मैं मशीन लेकर के कहाँ कहाँ घूमूंगा ये वो वट तो आप आगे टाइप नहीं कर सकते क्योंकि पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट करने वाले तो हजारों लोग बैठे हैं बट उनको अपनी मार्केटिंग करनी नहीं आती है उसमें भी किसी ऐसे को पकड़ो जिसने अभी नया नया काम शुरू किया है शुरू तो कर लिया है पैसा तो लगा दिया है लाइंस नहीं है एक तरह का आप कनेक्टिंग लिंक बन गए हो कस्टमर्स के बीच में और जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में उनके बीच में आप एक लिंक हो और आपकी पूरी की पूरी टीम है दो लोगों की पांच लोगों की दस लोगों की जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है टीम भी बढ़ाते चले जा रहे हो तो यहां से कितना काम हो सकता है कोई अगर करना चाहता है तो कोई लिमिट नहीं है अगर मार्केटिंग आती है अपर लिमिट कोई नहीं है इन्वेस्टमेंट कितने में शुरू हुआ ये काम पाँच दस हज़ार रुपये बीस हज़ार रुपये मैक्सिमम और एक स्किल आ गई आपके पास में स्किल की जो वैल्यू है ना इसके बदले में पता है क्या मिलता है सिर्फ पैसा नहीं मिलता है कॉन्फिडेंस मिलता है जिसके हाथ में स्किल होती है ना वो पता है क्या बोलता है कि बंद होता है हो जाए ये सारा का सारा काम मैं तो फिर से शुरू कर लूंगा ऐसा वही बंदा बोल सकता है जिसके हाथ में स्किल हो ना कि डिग्री हो आपको पता है कि ये जो स्किल मैंने एक्वायर करी ना छः महीने दिन रात लगा करके इस लेवल पे पहुंचाऊं कि मैंने इसको क्रैक कर लिया है कि कैसी एड से कैसे रिस्पॉन्स आता है मतलब कम से कम पैसा मार्केटिंग में लगा के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आना चाहिए ये इसको मार्केटिंग बोलते हैं अगर ये आपने क्रैक कर लिया है और उस बंदे को नहीं आता है तो आप जीत गए हो आपको ये पता है पाँच हज़ार लगा के पचास हज़ार कैसे कमाते हैं तो आप जीत गए हो उसका तो पाँच हज़ार लगाने के नाम से उसकी हवा टाइट हो जाएगी रेंट पे जगह ले रखी है वहां पे बीस बीस हजार रुपए रेंट दे रहा है महीने का हाँ। उसको बोलो पांच हजार एड में लगा दो नहीं नहीं नहीं समझ गए ना यहीं पे आप जीतोगे आप बोलो पांच हजार मैं लगाता हूँ तू मत लगा भाई तेरे को एक रुपये भी नहीं लगाना है तेरा काम मैं बढ़ा रहा हूँ उसको और क्या चाहिए हर कोई हाँ बोलेगा आपको ना बोलने वाला कोई है ही नहीं और कोई बड़ी वेबसाइट नहीं बनानी है कोई बड़ा ये नहीं वो नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं जी एक सिंपल सी वेबसाइट बनानी है स्टैटिक नॉट इवन डायनामिक जो एक घंटे में तैयार हो जाती है ये है जो बिजनेस मॉडल आज जो हमने डिस्कस किया है क्लियर है जी yes, चलो जी wish you all the very best thank you so much for coming